और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला ने उतारा है उसकी तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ तो वो कहते हैं हमें वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है और क्या अगरचे उनके आबाओ अजदाद कुछ भी ना जानते हों और ना ही वो हिदायत पाते हों